बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्म इज़ा हवा मा ضل صاحبكم वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है कसम है तारे की जबकि वो डूबा तुम्हारा साथी न भटका है न बहका है वो अपने मन की इच्छा से नहीं बोलता ये तो एक प्रकाशना यानी वही है जो उस पर उतारी जाती है उसे बड़ी शक्ति वाले ने शिक्षा दी है مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى जो बड़ा हिकमत वाला है वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो ऊपरी क्षितिज पर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 उसको उतरते देखा जहाँ पास ही जन्नतुल मावा यानी ठिकाने वाली जन्नत है उस समय उस बेर पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था निगाह न चुंधी आई न सीमा का अतिक्रमण किया और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी अब तनिक बताओ तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक देवी यानी मनात की वास्तविकता पर कुछ विचार भी किया है क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए ये तो फिर बड़ी धांधली का बंटवारा हुआ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى वास्तव में ये कुछ नहीं है मगर बस कुछ नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नहीं उतारी वास्तविकता ये है कि लोग सिर्फ अटकल के पीछे चल रहे हैं और मन की इच्छाओं के शिष्य बने हुए हैं हालांकि उनके रब की ओर से उनके पास मार्गदर्शन आ चुका है क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं उनकी सिफारिश कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति के हक में उसकी अनुमति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 कुछ कसूर उनसे हो जाए बेशक तेरे रब की माफी का दामन बहुत विस्तृत है वो तुम्हें उस समय से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेट में अभी भ्रूण अवस्था ही में थे अतः अपने मन की पवित्रता के दावे न करो वही अच्छी तरह जानता है कि वास्तव में डर रखने वाला कौन है أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى फिर ए नबी तुमने उस व्यक्ति को भी देखा जो अल्लाह के मार्ग से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया क्या उसके पास परोक्ष का ज्ञान है कि वो वास्तविकता को देख रहा है क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा की पुस्तिकाओं और उस इब्राहिम की पुस्तिकाओं में बयान हुई हैं जिसने वफा का हक अदा कर दिया ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसके लिए उसने प्रयास किया है और ये कि उसका प्रयास जल्द ही देखा जाएगा أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी प्रदान की और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है और ये कि दूसरी जिंदगी प्रदान करना भी उसी के जिम्मे है وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى और ये कि उसी ने धनी किया और संपत्ति प्रदान की और ये कि वही शेरा नामक तारे का रब है और ये कि उसी ने प्राचीन आद को तबाह किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा और उनसे पहले नूह की कौम को तबाह किया क्योंकि वे थे ही बड़े जालिम और उद्दंड लोग और औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका फिर छा दिया उन पर वो कुछ जो तुम जानते ही हो कि क्या छा दिया ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون अतः ए इंसान अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा ये एक चेतावनी है पहले आई हुई चेतावनियों में से आने वाली घड़ी करीब आ लगी है अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं अब क्या यही वे बातें हैं जिन पर तुम आश्चर्य प्रकट करते हो हंसते हो और रोते नहीं हो और गा बजाकर उन्हें टालते हो झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी करो